श्रीरामदूतं शरण प्रपद्ये यस्य विष्णु हरेव विष्णुः मय्येव सर्वं विजानामि सदात्मरूप श्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीराम जय राम जय जय पिछले दो दोहों के ऊपर चिंतन हम लोगों का संभवतः पिछले छह महीने से चल रहा है इसी से हम लोगों को इस चीज का अंदाज लग सकता है कि ये दो दोहे कितने सारगर्भित हैं ये प्रारंभ के हनुमान चालीसा के दो जो दोहे हैं जो दरअसल सोरठे कहे जाते हैं तो ये जो रहते हैं दो दोहे सोरठे ये गागर में सागर जैसे और हमने आप लोगों को ये भी एक बात बताई थी कि संत लोग ये बताते हैं कि कभी ऐसा भगवान न करे कि आप हनुमान चालीसा का पूरा पाठ न कर पाए प्रतिदिन जो कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि दिन में एक बार हनुमान चालीसा का पूरा पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए अगर कभी नहीं कर पाओ इमरजेंसी में तो कम से कम ये प्रारंभ के दो दोहे तो जरूर पाठ कर लेने चाहिए बल्कि इतने सुंदर इतने प्यारे दोहे हैं ये कि हमको तो बल्कि सवेरे सवेरे उठते समय ही ये दो दोहों का स्मरण आना चाहिए इन दो दोहों के बारे में तो संत लोग बोलते हैं कि आप दिन में जितनी बार बोलिए उतना अच्छा होता है सवेरे उठने के समय ध्यान के समय भी इन दोनों का पाठ कर लीजिए पूजा के बाद भी अपनी प्रार्थना के समय भी इनका पाठ कर लीजिए हम्म। रात को सोने के पहले भी एक बार इन चीजों का पाठ कर लो ये दो दोहे जो हैं ये तो हमारे हृदय में बैठे और जो चीज हमको कंठस्थ होती है वही चीज हृदयस्थ होती है अगर हृदय में बैठाना है तो इसको कंठ में हमको जरूर बैठा लेना चाहिए इसीलिए बचपन से ही हम लोगों को ये पाठ को सिखाया जाता है हनुमान चालीसा ही है जो सब बच्चों को प्रारंभ से ही सीखने को प्रेरणा दी जाती है हमको भी याद है बचपन में पहली चीज अगर कोई सीखी थी तो हनुमान चालीसा सीखी बाकी अनेकों देवता लोग सब बड़े आदरणीय हैं वंदनीय हैं भजनीय हैं लेकिन हमारे पास तो छोटे से प्यारे से हनुमान जी थे जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी अलमारी में वही बहुत आदरणीय स्थान मिलता था और हम तो देखते हैं जो कुछ कृपा हुई हमारे जीवन में ये बजरंग बली की कृपा और मजेदार बात यह है कि जिस समय हम संन्यास लेके अपने गुरुदेव के आश्रम में गए आपको तो पता है वहां पर हमने क्या देखा एक तीस फीट की हनुमान जी की विशाल मूर्ति उनके चरणों में बैठ के सब शास्त्रों का अध्ययन भजन पठन पाठन भी वही करवाया हमने इसीलिए हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से तो हनुमान जी का बहुत स्नेह है बहुत आशीर्वाद हमको मिला है इसीलिए जो खुद किसी चीज से लाभान्वित होता है वो दिल से बोलता भैया ये जरूर कर लेना बहुत बढ़िया चीज तो ये हनुमान चालीसा के जो प्रारंभ के दो दोहे थे इसके अंदर हम लोगों ने अपने गुरुदेव का स्मरण करा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बहुत आदर से अपने गुरुदेव के चरण स्मरण करा और उनकी चरणों की धूली उससे ही हमारे मन रूपी शीशे को साफ कर और जिसका मन बहुत ही सुंदर शांत होता है अपने गुरुदेव के प्रति एक आदर श्रद्धा और भक्ति के भाव को जगाने के द्वारा वो ही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अब आपके द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है प्रभु श्री राम का जो जीवन के परम तत्व है परमेश्वर है उनके ही कृपा से हमारे जीवन के सब पुरुषार्थ सिद्ध हो यही हमारी प्रार्थना है तो जितने भी फलचारी चारों फल हर व्यक्ति को जीवन में चार फल यहाँ आने के बाद सिद्ध करने चाहिए शरीर धारण करके आए हो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजें पूरी करके जाओ अर्थ की भी प्राप्ति करो अनेकों अपने मनोकामना की पूर्ति करो परिवार की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करो धर्माचरण करके सबकी सेवा करो जिस राह से निकल जाओ सबका हित हो आशीर्वाद हो छोटों के अंदर जो है वह धन्यता की बुद्धि हो बड़ों में आशीर्वाद की भावना हो ये धर्माचरण के लक्षण होते हैं और अंततः ये चौथी चीज चौथा पुरुषार्थ की शरीर धारण करने के बाद मुक्त होके जाना यहां से ये केवल चौरासी लाख योनियों में मनुष्य योनि ही होती है जिससे आपके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है इतना आनंद मिल सकता है मुक्ति में बोलते इतना आनंद मिला कि शॉपिंग लिस्ट खत्म हो गई अब कब आप बार बार शॉपिंग लिस्ट रखते हुए बाहर बाजार में चले जाओगे अब कोई सज्जन होते हैं हर थोड़े दिन बाद देखो बाजार में पहुंचे हुए हा? लिस्ट लिए हुए अभी पुराने शहरों में पहले जाते थे अभी तो कोई भी है कोई मॉल में दिखाई पड़ता है टी आई में दिखाई पड़ता है बोलते कहाँ पहुंच गए भाई कहाँ घूम रहे हो बोलते हैं भाई थोड़ा सा माल लेना है शॉपिंग हम्म, करनी है हर जीव दुनिया में शॉपिंग करने आता है हर थोड़े दिन बाद एक नया शरीर लेके दुनिया में फिर आगे कब तक आते रहोगे बोलते जब तक तुम्हारे अंदर कुछ और खरीदने की प्यास बाकी है उसी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है जो इतना आनंद होता है कि अब हमको कुछ चीज की जरूरत नहीं है जाने में हर्जा नहीं है हम भी घूम के आ जाते हैं कई लोग बोलते हैं गुरु जी बहुत अच्छा मॉल है चल रहे हैं बोले कहा बोलते टीआई ट्रेजर आइलैंड है खजाने का द्वीप है वो ट्रेजर का आइलैंड बोला चलो भाई हम भी घूम के आ जाते हैं घूमने में कोई समस्या नहीं लेकिन हमको अब यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो हमको प्राप्त है ये मस्ती ये धन्यता जिसको उसने हैं मुक्ति तो मुक्ति प्राप्त करना भी आवश्यक है केवल धर्म अर्थ काम के चक्कर में पड़े रहेगा निन्यानवे का चक्कर कभी खत्म नहीं होने वाला हम्म। एक बार जो है एक सज्जन महाराज जो क्या बादशाह अकबर और बीरबल वो प्रजा में घूम रहे थे इधर उधर वो जाते रहते थे देखते रहते थे हमारी प्रजा सुखी है कि नहीं सुखी है तो काफी लोग के कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी एक सज्जन गोलों उन्होंने देखा वो बहुत खुश थे तो उनके पास गए मिले बड़ी प्रसन्नता जाहिर करी तो बोला कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना कोई समस्या हो तो बताओ बादशाह अकबर आए हैं जज ऐसा कृपा है आपका इतना अच्छा राज्य कुछ नहीं चाहिए दुनिया में तो भाषा में होते हैं ऐसा कैसा आदमी कुछ भी नहीं चाहिए कुछ तो चाहिए होता है ना आदमी को तो बीरबल से पूछा क्या चक्कर है बीरबल बोलते महाराज जी निन्यानवे के चक्कर में नहीं पड़ा भी बोलते ये क्या चक्कर होता है भाई निन्यानवे का चक्कर बोलते आप कहो तो दिखा दे वैसे दिखाना चाहिए नहीं बेचारा शांति में है आराम से जी रहा है आप बोलो तो आज्ञा दो तो हम दिखा दें निन्यानवे का चक्कर बोलते क्या निन्यानवे के चक्कर में ये भी दुखी हो जाएगा बोलते महाराज जी स्पष्ट अनुभव की बात है निन्यानवे का चक्कर पड़ा कि आदमी दुखी हुआ ये तो बहुत ही अच्छा पंडित आदमी है भगवान का भक्त आदमी है ये तुम्हारे कोई चक्कर में नहीं पड़ेगा बोलते महाराज जी लगी सर बोलते चलो ठीक तो बीरबल ने जुगाड़ करा और निन्यानवे के चक्कर का जाल फेंका वहां क्या करा उन्होंने एक जो है थैली जिसमें निन्यानवे सोने की मोहरें थी उनके घर के सामने छोड़ दी और उन्हें गए तो आते जाते उन्होंने थैली देखी पहले तो एक अच्छे सज्जन आदमी थे उन्होंने कोई सिंह छोड़ दिया होगा तो रख लो भैया कोई आएगा मांगने के दे देंगे तो कोई नहीं आया मांगने तो पंडिताएं बोलती हैं नहीं पंडित जी सब आपके भगवान ने भजन सुन लिए तो लगता है भगवान ने खुद ही प्रसाद भेजा है तो ठीक है भाई अब रख लो काफी दिन हो गए जब कोई नहीं लेने वाला आया तो उन्होंने खोली और देखा वाह क्या बात है सोने की मोहरें और जब इतनी सारी सोने की मोहरें मिली तो बोला चलो जरा गिनो भगवान तो भगवान ने गिनना चालू करा निन्यानवे बोला पंडित जी ये कौन सी गणित है भाई जो भी ले जा रहा होगा सौ ले जा रहा होगा एक कौन ले गया है तो पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं देखो भगवान ने निन्यानवे तो भेज दिए है ना अब एक हम लोग थोड़ी मेहनत करके करवा लेंगे आज तक पंडित जी ने कभी गणित नहीं रखी थी उसके बाद जब पूजा करने जाएं जब कथा करने जाएं तो उनकी दृष्टि रहे कि दक्षिणा कितनी आई और दक्षिणा जमा करने लगे बोलते हैं भाई हमको अपने लेनी चाहिए वो वो निन्यानवे का चक्कर है उसको पूरा कर ले सौ कर ले उसका पुनः तृप्ति का अध्याय दोबारा चालू होएगा अभी तो बस एक सोने की मोहर की बात है और बेचारे जो है लग गए और ये जो अंतिम सोने की मोहर होती है ना हर इंसान जानता है यहां से बैठे हुए जो मुस्कुरा रहे बैठ के सब जानते हैं भगवान की कितनी कृपा खाते पीते हो दोनों पैर हाथ पैर अच्छे खाते परिवार सब स्वजन नौकरी धंधा इज्जत क्या कुछ नहीं है लेकिन एक मोहर कम है महाराज जी वो छोटी सी कमी है बस वो भी पूरी हो जाए उसके बाद तो फिर तो मुक्ति का आनंद लेंगे महाराज फिर वो पंडित जी भी क्या तृप्ति रखेंगे हम भी जो है तृप्त होके जिएंगे डकार मारेंगे केवल तृप्ति के जीवन में ऐसा आनंद आएगा बस थोड़ी सी कसर है वो बच्चा जो है ना पढ़ाई कर ले नौकरी चालू हो जाए और उसकी शादी ब्याह हो जाए और बस शादी ब्याह हो गई बस नती पोते बस आने वाले हैं महाराज जी बस अंतिम मोहर बाकी है और वो भी काम हो जाएगा फिर थोड़े दिन बाद बादशाह निकल रहे थे महाराज तो बोला महाराज जी पंडित जी के दर्शन करेंगे अब पंडित जी के चेहरे पे दुनिया भर का तनाव थोड़ी सी बची हुई है बस अंतिम जो है वो निन्यानवे का चक्कर पूरा होने वाला ही है और यहाँ सब जीव लोग जीवन भर वो एक मोहरा पूरा करने के चक्कर में रहते हैं बड़े बिरले होते हैं जिनको निन्यानवे का चक्कर नहीं पड़ा होता है जिसको पड़ जाए वो चक्कर भी रहता है <laughs> उसी को बोलते हैं चक्कर में पड़ गया तो यहाँ पर मुक्ति भी हम लोग को यहाँ मांझी और इन्हीं दो दोहों में दूसरे वाले में हमने देखा कितनी सुंदर प्रार्थना करी हे प्रभु केवल एक ही हमारी प्रार्थना है हमको बुद्धि दीजिए प्रभु बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेश विकार हम आपसे बाकी चीज नहीं मांगते हैं जिस दिन दूसरी चीजें मांगे उस दिन हमारी मति भ्रष्ट हो गई मूर्ख हो गए हमको तो भगवान केवल बल दीजिए बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए हमारी प्रार्थना इस चीज की रहे हमारे सपने इस चीज के रहे हमारे संकल्प इस चीज का रहे दिल में कोई दूसरी चीज की चिंता ना हो क्योंकि जो बलवान होता है बुद्धिमान होता है ज्ञानवान होता है कोई भी चुनौती आए उस पर ये तो टेंशन तो यही होता है कि समझ में आए महाराज जी करें क्या परिस्थिति प्रॉब्लम नहीं है हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें ये प्रॉब्लम मैकेनिक है गाड़ी चला रहा है गाड़ी रुक जाती है कभी टेंशन होता है उठाया बॉनेट खोला इधर उधर तार वार छुए छाए कहा ये टाइट करा ये ढीला करा फिर गाड़ी गई कोई समझता नहीं हमको पता ही नहीं यार बॉनेट के नीचे होता क्या अज्ञान से प्रॉब्लम होती है परिस्थिति से नहीं होती भगवान हमको तो आप यही कृपा करिए कि बल बुद्धि विद्या देहु मोही हर कले और जो हमारे लिए बाधाएं होती है बल की प्राप्ति बुद्धि की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति असली जो निधि है असली जो खजाना है उस चीज की प्राप्ति में बाधा भी हमारे मन के अंदर ही क्लेश और विकार होते हैं इसको हमें बैठा लिया जाने में अपने घर में तो पांच क्लेश और छह विकार होते हैं ये सब हम लोगों ने अपने पिछले सत्रों में देखा इसको बोलते हैं पांच क्लेश पहचान तो जाए क्या बैठा लिया अनजाने में अपने दिल में और कौन से छह विकार होते हैं जो आपको बलवान नहीं बनने दे रहे हैं जो आपको बुद्धिमान नहीं बनने दे रहे हैं ज्ञानवान नहीं बनने दे रहे हैं इसकी भी प्रार्थना करनी चाहिए हनुमान जी से ज्ञान के अलावा बुद्धि के अलावा बल के अलावा और कुछ मांगना ही नहीं चाहिए इन दो दोहों के बाद देखिए अब ये चौपाइया प्रारंभ होती हैं चालीस चौपाइया हैं इसीलिए इसका नाम चालीसा है बहुत सुंदर चालीस चौपाइया है एक एक बहुत ही सुंदर हैं बड़ी सरल हैं बड़ी मीठी हैं और जैसे हम लोग ने दो दोहों में देखा इनकी बड़ी गहराई है नहीं है ये केवल पाठ का विषय नहीं है हनुमान चालीसा का मात्र पाठ केवल नहीं करना चाहिए अर्थ का स्मरण और ध्यान भी करना चाहिए इसीलिए हम लोग की प्रवचन की श्रृंखला चल रही है कि आप सब लोग श्रद्धालु लोग हैं पाठ करते होंगे लेकिन अगर अर्थ नहीं जाना और पाठ करा तो हमको जितनी कृपा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है मिलती तो तो भी है अगर कोई नहीं जान के भी पाठ करता है कृपा उसको भी मिलती है बल्कि श्री गणेश तो बगैर अर्थ जान के पाठ से ही होता है कोई भी हो जाए कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं पहले बोलते हैं पाठ सीख लो फिर बताते हैं पहले के जमाने में तो किताबें नहीं होती थी किताबें तो अभी हाल में चालू हुई हैं हम लोगों की अनादिकाल से जो परंपरा ज्ञान की चली आ रही है इसमें कोई व्यक्ति जब जाता है पढ़ने के लिए हमको एक आश्रम में पंडित जी थे संस्कृत सिखाते थे तो संस्कृत बताते थे बोलते महाराज जी पता हम संस्कृत पढ़ने गए थे तो क्या हुआ था आश्रम में संस्कृत के सूत्र थे व्याकरण के सूत्र पाणिनी सूत्र ये अष्टाध्यायी बोलते हैं उसको हम्म। तो वो थे हमारे गुरुजी ने बोला बस बेटा ये याद करो चलो तुम्हारा होमवर्क मिल गया पहले कंठस्थ कर लो महाराज जी कुछ अर्थवत तो बता दो तो हम समझने में आसानी हो जाएगी बोलते हैं ऐसा नहीं है पहले याद करा जाता है फिर अर्थ बताए जाते हैं तो किताब थोड़ी है तुम्हारे सामने किताब खोल के दे दे आजकल का जमाना अलग है, है? हाँ? गीता प्रेस आदि की बड़ी कृपा हो गई छपवा दिए लाखों करोड़ों में सबके पास आ गई किताब जिसके पास किताब होती है ना उसको याद करने का टेंशन नहीं रहता बल्कि बड़ा रगड़ा भी होता है अभी हम गए ऋषि के भजन वहां पे शिविर था गंगा जी के तट पे तो कुछ भक्त लोग थे हमें बोला चलो भाई भजन भजन हो जाए बोलते हाँ महाराज भजन चले करते मजा आएगा बहुत बढ़िया लेकिन एक प्रॉब्लम है बोला क्या डायरी तो घर में भूल गए बोला धन में यार हर चीज तुम्हारी डायरी में रहती है कि कभी तुम्हारे दिल में भी कुछ वजह है उसने भी महाराज जी याद करने की कोशिश कर पूरा नहीं याद रहता हम डायरी वाले भगत हैं बोलते बोलते ठीक है जब बहुत ज्यादा भंडार हो तो किताब रख लो कोई हर्जा नहीं है लेकिन भजन का कभी आता है जिस समय आपको पूरा भजन याद हो अर्थ भी स्पूर्णा हो रही हो आंख बंद करके रमते हुए मस्ती में उसमें लीन हो जाओ बिल्कुल समाधि में पहुंच गए फिर बोला यार दूसरा वो स्टैंडा कौन सा है फिर समाधि से निकलो फिर आंख खोल के किताब देखो फिर दोबारा समाधि <laughs> क्या रहा है करते हुए तो हनुमान चालीसा को भी अच्छी तरीके से कोशिश करो याद कर लो बहुत कल्याण की चीज है बल्कि बच्चों को तो इसीलिए याद हो जाता है क्योंकि जब जब अंधेरे से निकलते थे हम्म, हाँ भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे महावीर नाम चला हमने तो भैया इसी चक्कर में सीखी हमारे जो है वो पुराने समय के घर थे मेरे जी का लंबा चौड़ा पूरा जो है वो खंडहर जैसा जैसा खंडहर नहीं था बहुत विशाल वैसा था तो एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में रगड़ा होता था तो बोला बेटा हनुमान चालीसा याद करो हनुमान चालीसा आराम से जो थोड़ा से निकल जाओगे कोई चिंता नहीं बड़ी कृपाएं होती हैं लेकिन उसकी जो है और सुंदरता और महिमा कैसे होती है जब एक एक चौपाई का अर्थ समझते हुए उसमें रमो थोड़ी देता इसको बोलते हैं जुगाली करना जैसे गाय चारा खाती है ना उसके बाद देखो चारा खाने के बाद हाथ बंद करके जुगाली करती रहती है पान खाने वाले लोग हैं पान खाने के बाद वो जहाँ घूमे दबाया बोलते हैं थोड़ी देर बाद मत करना हाँ खबर में करके जुबाली करते हैं थोड़ी देर चबाते हैं और उसके बाद कोई कोना ढूंढते हैं कहाँ पे झूके हैं इस तरीके से वहां पे यहाँ पे तो तब भी कुछ अच्छा है यूपी यूपी में जाओ तो हर जगह सीढ़ी में मॉडर्न आर्ट बनी हुई कॉर्नर में ऐसे वहां कलाकारी होती है जुगाली तो जुगाली जो है वो हमको हर चौपाई की करनी चाहिए हर चौपाई में इतनी सुंदर चीजें हैं कि केवल पाठ का संकल्प लोगे तो फिर बात बनेगी नहीं अब कोई लोग होते हैं उन्होंने बोला हम पाठ करेंगे सज्जन हमारे वहां आश्रम में आते थे बोलते स्वामी डेली पाठ करना है और उन्होंने बहुत अच्छा नियम था खाने के नहाने के समय पाठ कर लेते लोगों को पता भी चल जा रहा था बाथरूम में कोई है अंदर से पाठ चल रहा होता था और उनके पाठ की स्पीड सर्दी और गर्मी में बदलती रहती जहां पानी ठंडा हुआ तो देखो क्या स्पीड से पाठ करते जर्मन सुपर फास्ट एक्सप्रेस चल रही और कभी बहुत आनंद आ रहा है तो धीरे कि मैं जय हनुमान सागर बोलते यार तुम्हारे ये नहाने का साबुन थोड़ी है कोई नहाने के लिए तुम केवल इसका प्रयोग करते हो क्या बोल के गए ये नहीं समझ में आया तुमको इसका पूरा अर्थ अच्छी तरीके से फुर्सत में बैठ के पाठ करना चाहिए प्रार्थना हो पाठ हो इसको नहाने के समय मत जोड़ो हाँ? आजकल तो बात हो लैट साथ में होते हैं यार अब तो शर्म को रखो पता नहीं तुम दरवाजा बंद करके नहा रहे हो कि क्या क्या कर रहे हो हनुमान जन का पाठ कर रहे हो हाँ? हनुमान चालीसा का पाठ केवल नहा धोने के बाद अच्छे शुद्ध कपड़े पहनने के बाद हनुमान जी के पास बैठो हाथ जोड़ के प्रार्थना करो तीन बार प्राणायाम करो बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करो और एक एक दिन एक एक चौपाई में अच्छी तरह से रखना चाहिए तो यहाँ पर जो है ये हनुमान चालीसा का श्री गणेश होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इतना सुंदर श्री गणेश है कि जैसे कई क्रिकेटर आते हैं ना आते आते सिक्सर मारते हैं ये वो चौथाई आते आते ही इन्होंने कितना धमाका करा है कितनी सुंदर बात करी है ये आप सोचिए इसका विचार करिए आप निश्चित मानो अगर आप इसके अर्थ में जाओगे तो आप शांत चित्त समाधिस्त होके बस गाड़ी रुक जाएगी आप इतना सुंदर इसमें रहस्य है आप यहां बोल रहे हैं कि जय हो जय हनुमान प्रारंभ में अपने इष्ट देवता का रूप का ही स्मरण करना चाहिए जब भी ये पूजा करी जाए भजन करा जाए इष्ट देवता का रूप का स्मरण करना जहां पे आपका मन स्थिरता से लग सकता है ग्राह्य होना चाहिए जो अनेकों अदृष्ट अग्राह्य सूक्ष्म रहस्य है ना वहां जाने के लिए पहले कोई सुंदर ग्राह्य प्रेरक रूप को पकड़ के उसकी जयकार हो उसकी वंदना हो जय हनुमान हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा था हनु बोलते हैं हमारी थोड़ी को थोड़ी का नाम होता है संस्कृत में हनु और जिसकी थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा विशाल होती है बड़ी होती है वहां पे जो है आगे ये उपसर्ग मान जुड़ जाता जो भी किसी चीज की प्रचुर मात्रा में जब कुछ होता है धनवान हनुमान ये मान और वान ये दो चीजें शब्द के आगे जुड़ जाएं तो इसका मतलब वो एक विशेष प्रचुर मात्रा में कोई चीज उपलब्ध होती है तो हनुमान जी की पर्सनालिटी वैसे तो सभी वानर देखो तो एक ही रूप दिखाई पड़ते हैं वानरों को देखो एक रूप दिखाई पड़ते हैं सरदारों को देखो एक ही रूप दिखाई पड़ते हैं हम्म। बाहर से सरदारों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं अगर कोई खास मोटे ताजे दुबले पतले ना हो तभी पता लगता है नहीं तो सभी के जो है अच्छी खासी पगड़ी बनी हुई है गाड़ी मूझ है तो अंदर क्या है ये स्पष्ट नहीं पता लगता सभी मानर एक जैसे दिखाई पड़ते हैं अब ऋषिकेश में आप जाओ हरिद्वार में जाओ देखो कितने रस्ते वहां में बैठे वहां आके बैठे रहते हैं और सभी एक जैसे वहां किसको पता लगे ये फलाने हनुमान हैं और ये सुग्रीव हैं और फलाने हैं तो हनुमान मतलब कोई जो है जिनकी हनु विशेष बड़ी है तो उसकी बड़ी प्रसिद्ध पुरानी कथा है हनुमान जी बचपन में सूर्य देवता की तरफ जा रहे थे और इतनी सिद्धियों से युक्त थे सामर्थ्य से युक्त थे कि सूर्य को निगलने के लिए जा रहे उस समय सूर्य देवता राहु को ग्रसने के लिए प्रवृत्त थे ग्रहण का समय आने वाला था उस समय हनुमान जी जाके सूर्य देवता के रथ पे बैठे और खुद ही जाके जो है उनको ग्रसने लगे तो वहां सूर्य देवता ने इंद्र देवता से शिकायत करी बोला महाराज जी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं ये क्या बाधा भेज दिया आपने जरा निपटाओ इसको संभालो आपकी बाधा को वो आपकी सेवा करें ये ग्रहण करने का कार्य आपने हमको दिया है तो इंद्र देवता ने देखा ये कहा वानर पहुंच गया भाई सूर्य के पास उनके रथ में बैठे हुए थे जाके और जब ग्रहण करने के लिए राहु को जा रहे थे तो वो बीच में खुद अपनी बाल लीला कर रहे थे अब बच्चे जहां पे हैं वहां पे बाल लीला चलती रहती तो उन्होंने जो है उनको बड़ा विषम परिस्थिति सी ग्रहण करने ही था समय था तो उन्होंने अपना वज्र फेंका उनके ऊपर और वज्र उनका लगा मुंह पे और जाके वो पृथ्वी पे गिर गए तो ये तो रस्ते से हटे और वो सूर्य देवता ने अपना कार्य तो पूरा कर लिया लेकिन यहाँ पे जो हनुमान जी नीचे गिरे आके तो पवन देवता को पता लगा कि हमारे पुत्र का ये हाल कर दिया है इंद्र देवता बोला ये तुम्हारा बहुत गलत काम करा छोटा बच्चा है ये थोड़ी बच्चे के ऊपर आपने वज्र मार दिया है इंद्र देवता का अस्त्र बहुत ही विख्यात अस्त्र वो जो है हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया बोले ऐसा कौन करता है बच्चों के ऊपर कोई एटम बॉम थोड़ी फेंकता है ये महाराज जी गलत कार्य हम तो नाराज हो गया और कहा जाता पवन देवता ने चारों तरफ पवन का संचार बंद कर जहां पे पवन देवता ने ये संचार बंद करा पूरी पृथ्वी में चारों तरफ लोगों में हाहाकार मच गया क्योंकि बड़े प्राण के कोई जी नहीं सकता है किसी की ही नहीं ली जा पा रही थी सब मरणासन्न हो गए थे दुर्दशा हो गई तो उस समय जो है उन्होंने जाके क्षमा मांगी और बोला नहीं ऐसे काम नहीं बने सब देवता आए और सब देवता आके सब लोगों ने बोला कि ठीक है हम अपनी अपनी शक्ति इस बालक को देते तो एक ऐसी घटना घटित हो गई कि एक घटना से समस्त देवी देवता अपना सर्वशक्ति ज्ञान जिन्होंने इनको दे दिया ऐसी अद्भुत घटना हो गई उसके बाद हनुमान जी की थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी हनुमान जी को पहचानना हो एक हमने फोटो देखी थी बोला हनुमान जी जो है ना पहाड़ों में हिमालय में हमको मिले थे किताब पढ़ रहे थे काफी प्रचलित फोटो है आत्मा ने भी देखा वो दृश्य एक वृद्ध वानर ग्रंथ लेके पढ़ रहे कैसे पता लग गया हनुमान जी है अब तुमको पता लग गया उसकी सीने थोड़ी देखना आग भी टड़ी होगी बड़ी होगी थोड़ी अगर बड़ी थोड़ी वाला कोई वानर मिला तो ये पहचान है हनुमान हनुमान जी की पहचान सबकी कुछ ना कोई पहचान होती है अच्छा आपको कभी भूख मिले तो क्या पहचान होती है अब घूम फिर रहे हो कहीं पे खंडहर में जा रहे हो मांडू वांडू में पहुंच गए पूरे पुराने ऐतिहासिक खंडहरों में वहां घूम रहे हो नीचे अनेकों नीचे सीढ़ी उतरते चले जाओ कैसे वो कुआ है वहां पे नीचे पानी का कौन अगर कोई भूत मिल गया तो कैसे पहचानोगे भूत है उसकी पहचान होनी चाहिए सब ज्ञान की बात है भाई हाँ? सीधे पैर की तरफ देखना भूत के पैर सदैव उल्टी तरफ पंजा जो है बाकियों का आगे रहता है भूत का उल्टा रहता है अगर उल्टा है तो हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर देना फटाफट और देखना कैसे धूम दबा के भागता है पता नहीं हनुमान चालीसा में ऐसी शक्ति है इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे अड़ोस पड़ोस में नहीं आते पड़ोस में हो वो भी मुक्त हो जाता है बोलते क्या हो रहा है यार जब से आप आए हैं बड़े सुखी पहले पीछे पड़ा रहता था बोलते हैं हाँ ये अड़ोस पड़ोस साफ कर देता है ऐसी तो सबकी पहचान होती है हनुमान जी की पहचान शिव जी की पहचान राम जी की पहचान देखो भाई कभी भी भगवान किसी के पास भी दर्शन दे देते हैं कम से कम इतना सत्संग तो कर लो कि पहचान हो जाए कि हनुमान जी आए कि कौन आया है वैसे वानर लोग जो हैं बहुत ही बड़े पुण्यात्मा होते हैं बहुत ही भक्त होते हैं पता नहीं इनके अंदर कौन सी सिद्धि होती ज्ञान रखते चंचल तो होते हैं थोड़े स्वभाव से लेकिन अनेक बार हमने देखा है एक बार तो राम कथा चल रही थी कहीं पे कोई दो वानर आए व्यास पीठ के ऊपर जो महाराज जी कथा कर रहे थे शांति से आके उनके सामने बैठा उनको देखने लगा अब सब कथा रुक गई सब वानर को देखे ये क्या हो गया है और हनुमान जी की जयकार होने लगी पूरे मंडप में कुछ नहीं बोला थोड़ी देर वहां पे बैठा रहा उनके सामने आने के जैसे कोई बड़ा खुश होके देख रहा है और थोड़ी देर देखा उसके बाद दूसरे संत बैठे थे उनके पास गया हमारे पास यूट्यूब में उसका वीडियो है इतना सुंदर जाके बाद में वहां पे राम जी की फोटो रखी थी उधर से एक केला उठाया उसने और केला उठाया ऋषिकेश में हम जाते हैं ऐसा एक शिविर होता है स्वामी दयानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं वो उनका आश्रम है हमारे गुरुदेव के ही एक वरिष्ठ शिष्य हैं गुरुतुल्य ही हैं उनके आश्रम में हम लोग जब भी अंतिम दिन पूजा वूजा करते हैं तो एक लंगूर आता है पहले दो आते थे फिर उसके बाद एक रह गया इस बार पहली बार दिखाएंगे बिल्कुल शांति से आएगा और पूजा के समय शीशे के वहां पे शीशे के दरवाजे बड़े बड़े लगे हुए हैं तो शीशे के बाहर वो बैठते देखता था थोड़ी देर एक सज्जन को बहुत ही प्रसन्नता हुई बड़ी दया आई उन्होंने केला उठाया जाके उसको जाके दिया छुआ नहीं उसको छोड़ दिया और बैठा रहा थोड़ी देर उसके बाद एक बार पूजा के समय नियमित रूप से आता तो लोग में बड़ी एक सिद्धि होती है बड़ा सामर्थ्य होता है बड़े भक्त होते हैं सब जानकार होते हैं कई बार तीर्थ वेद में जाओ हाँ, सिदाई से प्रसाद दे देना उनका रेस्टोरेंट भी जब परिक्रमा पे निकलो ऊपर नहीं तो आते झोला खोलेंगे और हाथ से लेंगे झोला खोलेंगे प्रसाद लेंगे और वापस दे देंगे और अगर प्रसाद नहीं हुआ झोला में तो लेके लपड़ मार के जाए क्या आए हो तुम अभय प्रसाद के चले आ रहे हो प्रसाद भी नहीं रखा तुमने और कुछ नहीं करते बड़े कोई अद्भुत सी योनी है तो हनुमान जी की जो है वानर की योनी ऐसी दिव्य भक्तों की योनी सेवकों की योनी यही वानर है जिससे राम जी पूरे लंका पहुंच गए लंका को जीत लिया इनकी मेहनत और कृपा से सहयोग से तो वानर योनी है और वो भी थोड़ी है बड़ी है लेकिन हनुमान जी की वंदना उनको हम देख के उनकी जयकार केवल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बलवान दिखाई पड़ते हैं बड़े हृष्ट पुष्ट हमारे मोदी जी की छाती छप्पन इंच की होगी भले लेकिन हनुमान जी की डबल छाती उनसे ऐसी विशाल का है इसीलिए जितने भी खड़े हैं सब हनुमान जी को बजरंग बली को नमस्कार करते हैं आदर्श है उनका एक से एक बड़े बड़े पहलवान होते हनुमान जी के सामने तो हम सब होते ऐसा विशाल का शरीर सुंदर हृष्ट पुष्ट दिव्य चेहरे के ऊपर एक ऐसी आभा है भक्ति की धन्यता की ज्ञान की और एक पहचान है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बड़ी जहां पे हनुमान जी बैठते थे वहीं पे बैठ के राम जी के नाम का जप करते हुए लीन हो जाते समाधि में ऐसा उनका शरीर ऐसा रूप चालीसा जो है एक भगवान की उपासना की विधि है उपासना बोलते हैं भगवान के किसी एक रूप को लेके उनके खूब गुणों में रुकना इतना रमना कि अपने आप को भूल जाना इतनी किसी महानता को देखना कि अपनी सुत बुद्ध भूल जाओ और ऐसे रम जाओ खो जाओ किसी भी उपासना की सुंदरता इसमें है कि अपनी सुत बुद्ध खो बैठे तब जाए किसी से प्रेम भी हो तो अपने आदमी को सुध बुद्ध भूल जाता है भक्ति तो भगवान के चरणों में प्रेम को बोलते हैं महान के चरणों में प्रेम को ही भक्ति बोलते हैं तो इस समय तो आप भगवान का भजन कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं पाठ करते हुए रम रहे हैं तो वो भगवान का रूप आपके मन में आना ये सबसे पहली आवश्यकता जरूर रूप कराया हम लोगों ने जब ये पिछले वाले सोरठे को देखा था उस समय भी हमने बताया था कि सदैव पहले जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए और फिर आगे भजन चालू करना चाहिए तो आंख बंद करके भगवान का स्मरण करो और उसके बाद इस रूप की विशिष्टता क्या है उसका स्मरण करना चाहिए रूप को पहले लाना आवश्यक होता है उसमें देखिए क्या होता है कि एक हम लोगों को पतंजलि महर्षि जी ने जो योग के रहस्य बताए हैं उसमें ये बताया है कि आप मन की अगर गहराई में जाना चाहते हैं ना तो प्रारंभ में मन को किसी एक स्थूल चीज में स्थिर करना चाहिए इसका नाम दिया जाता है धारणा आपने अष्टांग योग पढ़े हैं ना नाम तो सुने तो होंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समय जो धारणा होती है ना धारणा बोलते बहुत आवश्यक है अगर आपको ध्यान करना हो किसी चीज की गहराई में ध्यान करके जाना हो तो धारणा बहुत आवश्यक है धारणा बोलते हैं किसी एक चीज में मन को लगा के स्थिर कर इसलिए कोई एक चीज होनी चाहिए स्थूल होनी चाहिए ग्राह्य होनी चाहिए गीता जी में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन हाँ? तुम्हारे लिए कोई भी एक विषय चाहो तुम आंख बंद करके दोनों भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान करो वहां धारणा करो कई बार तो कहते हैं कि नाक के अग्रभाग के ऊपर थोड़ी देर दृष्टि टिकाओ थोड़ी देर के लिए धारणा करनी चाहिए देखो अगर बढ़िया ध्यान के अंदर आगे गहराई में जाना है तो शुरुआत में किसी एक चीज में अपने चित्त को स्थिर कर दो लगा दो और फिर कहीं पे हिलाना ना त्राटक जैसे उसी की तरफ देख रहे हो वो ध्यान है हनुमान जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रसन्न चेत ज्ञान की आभा से युक्त भक्ति की धन्यता से युक्त वो अपने मन में आके उसके बाद उनके रूप को चिंता खत्म कर देनी चाहिए इससे चिंता खत्म करो कि हनुमान जी की सन्निधि महसूस करो रूप तक बोलना चाहिए इस बात को थोड़ा समझ लो देखो प्रारंभ में आप अपने भगवान के रूप का स्मरण करो उसके बाद मन में ये भावना लाओ कि भगवान यहीं पे हैं और जब आप किसी देवता की सन्निधि में हैं उनकी प्रेजेंस में है वो यही है फिर आप आंख बंद कर लो तो भी भगव स्मरण चलता है रूप को ही सदैव याद नहीं करना चाहिए रूप को थोड़ी देर स्मरण करो उसके बाद उनकी सन्निधि की अनुभूति करो रूप खत्म करो रूप तो उन्होंने माया से चोला पहना हुआ है उनकी महिमा उनकी सन्निधि ज्ञानवान की सन्निधि का अनुभव करो कभी भगवान ने दर्शन दे दिया आपको बहुत सुंदर रूप हुआ उसके बाद आपको जीवंत सन्निधि महसूस होगी कभी किसी संत के पास चले जाओ तीर्थ में चले जाओ वहां जाते जाते ही एकदम मन के अंदर प्रसन्नता होती जैसे यहां कुछ है तो वो महसूस होना चाहिए अपने इष्ट देवता का हनुमान जी का एक रूप का स्मरण करो और रूप के स्मरण के बाद आंख बंद करो धीमे से और मन में ये बना रखो आप हनुमान जी के साथ खड़े हो उनकी सन्निधि में उनकी प्रेजेंस बनी रहे देखो हनुमान जी ने हनुमान चालीसा के अंत में क्या बोला हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा क्या है सिया राम जी सीता जी लक्ष्मण जी के साथ हमारे हृदय में सदैव बने रहे हृदय बसौ सुरभूत सन्निधि महसूस होती रहे हम कहीं पर भी हो आपके दिल में ये भावना बनी रहे आप राम जी के साथ में है लक्ष्मण जी भी साथ में है राम जी भी साथ में है सीता जी भी साथ में है जगत जननी शक्ति की धाम वो भी आपके हृदय में है ऐसी कृपा सन्निधि की बात है रूप का चिंता फिर मत करो रूप एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह होता है जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं ना अंदर जंप करना हो तो स्प्रिंग बोर्ड होता है जंपिंग बोर्ड तो उसमें जाते हैं और छलांग लेते हैं और पानी धम से अंदर जाके कूदे तो रूप जो है वो इस तरह से होता है आपको एक अंदर एक अलग ही दुनिया में जगा देता है तो एक बार हनुमान जी की सन्निधि पे आपको वृत्ति हो जाए अनुभूति हो जाए और इसका अभ्यास करना पड़ता है कहीं पर भी बैठो एक जय हनुमान जय हो हनुमान जी हनुमान जी की जयकार हो धन्यता हो उन्हीं की जयकार करें उनके अंदर सब बड़प्पन विशिष्टता हम उसमें देखें और उसके बाद सबसे बड़ी उनकी विशिष्टता क्या है ये पहली हम लोगों को चौपाई नहीं बताई देखो हनुमान जी की अनेकों कृपाएं होती हैं जैसे हम लोग बता रहे थे बचपन में हम हनुमान जी का स्मरण करते थे क्योंकि डर लगता था भाई अंधेरे में लेकिन हमको भूत पिशाच से दूर करना हनुमान जी का मूल काम नहीं है उनकी विशिष्टता नहीं है विशिष्टता क्या है हनुमान जी की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पहली चौपाई में ही गोस्वामी जी बोलते हैं हनुमान जी की जयकार करो केवल इस चीज के लिए करो अद्भुत प्रकार की उनके अंदर यह सामर्थ्य है उनका ज्ञान और गुण अपरंपार है जब आप हनुमान जी के ज्ञान और गुण का स्मरण करें तभी जाके हनुमान जी की आप वास्तविक महिमा का पता लगा है अगर हनुमान जी का स्मरण करते हुए उनके ज्ञान का स्मरण नहीं हुआ तो सब बेकार हो बहुत आवश्यक है कि हम हनुमान जी के ज्ञान का स्मरण करें जब जब हनुमान जी को देखो तो उनके ज्ञान का स्मरण करो वाह हनुमान जी का ज्ञान है आपका देखिए जिस समय राम जी वन में आए थे और सुग्रीव ने पहाड़ के ऊपर से ये दो राजकुमारों को जाते देखा उसको डर लगा कि देखो वाली ने भेजे कोई दो जासूस उसको बेचारे को डर ही लगा रहता था वाली का कि हमको मरवा देगा मरवाने के बाद निष्कंटक राज्य मिलेगा और बहुत ही डर के बेचारा पहाड़ से उतरते ही नहीं था एकमात्र पहाड़ था जहां पे वाली की एंट्री नहीं थी उसी पे वो जो है शरण लिए हुए थे और नीचे जो है वो वैली में तलेटी में देखा कि दो राजकुमार लोग जा रहे हैं सीधे किससे उन्होंने बोला हनुमान जी से इतने बुद्धिमान इतने बलवान इतने ज्ञानवान हनुमान जी क्योंकि बलवान है बुद्धिमान है बल बुद्धि विद्या देव मोही महाराज जी आप तो इसकी निधि है उन्होंने जो है बोला जाओ हनुमान पता कर जाओ ये कौन दो राजकुमार लोग जा रहे हैं तो हनुमान जी ने भी देखा और उनको भी कुछ थोड़ी सी विचित्रता दिखाई पड़ी उन्होंने बोला कि हमको कोई बात समझ में नहीं हमको समझना है इसको इंक्वायरी करनी है थोड़ा शोध करना चाहिए और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए क्योंकि ऋषि भी नहीं दिखाई पड़ रहे ऋषियों का वस्त्र है लेकिन ऋषि मुनि को दिखाई नहीं पड़ रही हाथ में धनुष बाण लिए ऋषियों जैसा सकल सूरत चेहरा भी बॉडी भी नहीं है ऐसा जो है ईश्वर में खाते पीते घर वालों का है हाँ? हृष्ट पुष्ट अब राजकुमार लोग कहीं निकलेंगे तो अलग से पहचाने जाते हैं ऋषि मुनि लोग तपस्वी लोग जाते हैं तो बेचारे अलग ही पहचाने जाते हैं तो बोला ये ऋषि भी नहीं लगते हैं और राजकुमार भी नहीं लगते ये कैसे राजकुमार है जो बलतल वस्त्र हर में घूम रहे तो विरोधाभास और इसीलिए उनको भेजा गया और उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करा और इस अंदाज से जाके राम जी से मिले वाल्मीकि रामायण में आता है कि जहां उन्होंने दो शब्द बोले हनुमान जी ने राम जी ने लक्ष्मण को किनारे करके बोला लक्ष्मण ये हमारी बात नोट कर लेना ये जो ब्राह्मण है ना चारों वेदों का ज्ञानी है दो मिनट में हमने ये प्रमाण जो है प्राप्त हो गया इसके बोलने का ढंग इसके विचार की सुंदरता इसका धैर्य इसका संतुलन इसकी मर्यादा इसकी शिष्टता इसकी निडरता हर चीज जो है छलक रही है इसकी अद्भुत प्रकार का ये व्यक्ति है ये ज्ञान की निधि है और हम तो प्रमाण पत्र दे रहे हैं चारों वेदों का राम जी ने प्रमाण पत्र हनुमान जी को मिलते हुए पहली बार एक मिनट भी नहीं हुआ बात का उन्होंने सीधे प्रमाण दिया कि ये चारों वेदों का ज्ञान हनुमान जी की पहचान ही ज्ञानी की तरीके से इसीलिए हनुमान जी को और किसी दृष्टिकोण से जो है वह नहीं देखना चाहिए जो हनुमान जी को किसी और दृष्टिकोण से देखे वो हनुमान जी को जानता है देखो वैसे तो हनुमान जी तो रामदूत है रामदूत भगवान जी के पहरेदार हैं दूत हैं इसीलिए जो भी राम जी से भी काम करवाना हो भाई उनके दूत से बोले हो निपट जाएगा लेकिन हनुमान जी से क्या चीज लेनी चाहिए इसकी हमको समझ तो कुछ लोग जो है वहां पहलवान लोग हैं हनुमान जी से केवल बल मानते रहते हैं चलो ठीक है गोस्वामी जी ने भी बोला बल बुद्धि विद्या तीनों मांगो बल भी मांग रहे हो तो तुम सही दिशा में हो लेकिन पूरे सही नहीं हो यार अभी भी तो, तो हनुमान जी को पहलवान ही समझ रहे हैं हनुमान जी कहा इतने प्रकांड विद्वान अब हम जो है कभी जाए शंकराचार्य जी से मिले बोले महाराज जी आपकी बाहु काफी बढ़िया है कौन सा घी खाते हो लपड़ लगाएंगे तुम्हारे हमारे पास आए हो हमारी बाहु मसूस देखने के लिए अरे यहां तो ज्ञान की महिमा देखो ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए हनुमान जी के पास जो जीवन में ज्ञान प्राप्त करने योग्य थे सब हनुमान जी के पास ये प्रैक्टिस करना चाहिए सदैव हनुमान जी को देखते समय सोचो कि ये ज्ञान की विधि है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर क्या शब्द यूज करा है तुलसीदास ज्ञान का सागर है महाराज जी आप सागर जो है वो रहता है जिसकी ओर छोर नहीं पता रहती अनंत रहता है अथा रहता है आपके ज्ञान की कोई और छोर नहीं है अथा है आपका ज्ञान हमारे लिए आप सदैव ज्ञान की ऐसी विधि है मूर्तिमान रूप है हम सदैव आपको देखते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा जगने लगी अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो आपको भी सही में हनुमान जी की मेहरबानी बता देंगे बाकी तो कुछ भी मांग लो एक आदमी क्या बोला हनुमान जी शादी नहीं हो रही हमारी बोलते बेटा हमारी नहीं किससे क्या मांगना चाहिए अकल तो रखो कुछ भी किसी से कहीं मांगने लगते हो मूर्खा ब्रह्मचारी जी के पास जाके बोलते मुरा जी शादी करा तो बोलते यार अगर हमसे सीख लेनी है तुमको तो मत करो <laughs> इसीलिए ज्यादा वो मत खुलवा हमारा ठीक है करना है तो राम जी के पास सीधे जाओ बहुत सारे देवता हैं तो करवा देते हैं हमारे पास आए तो ज्ञान प्राप्त कर रहे ज्ञान प्राप्त करके गुणों की निधि बन जाओ ज्ञान की निधि बन जाओ ये चीज हनुमान जी से प्राप्त करनी चाहिए हनुमान जी वो ज्ञान हम लोगों को देते हैं जिससे हमारे जीवन की पीड़ा पार होता है और ज्ञान का मतलब ही होता है कि हमारी नैया पार लग जाए जीवन के हर विषम परिस्थितियों में आपको दिशा मिलती जाए मुसीबत से निपटने का मार्ग मिल जाए इसको बोलते हैं ज्ञान उस अकल को विवेक को बोलते हैं कि आपको कैसी भी परिस्थिति है चिंता मत करना हर तरह का एक रास्ता होता है गुरु के पास जाते हैं जीवन की हर परिस्थिति को निपटने का तरीका बता देते हैं इसीलिए तो घबराते नहीं कोई भी गुरु होंगे हाँ पेट उनका भी है ना उनके भी हाथ पैर हैं उनके भी जो है वहाँ सब पूरे शरीर के रोग की संभावनाएं हैं बल्कि नेको गुरु लोगों को क्या क्या रोग रहते हैं उनके रोग भी बड़े गुरु रोग होते हैं छोटे थोड़े उनके रोग भी होते हैं हमारे गुरुदेव के पास शुगर का प्रॉब्लम था कहीं उनको जो है वो पीठ के स्पॉन्डोलोसिस हो गई बैठे रहते जो घंटों घंटों बैठे रहते हैं तो अनेकों प्रकार के जोड़ों के प्रॉब्लम हो जाते हैं पीठ के प्रॉब्लम हो जाते हैं रोग तो बहुत सारे हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था रमण महर्षि जी अभी दक्षिण के बहुत प्रसिद्ध संत हुए कैंसर हो गया था अनेकों शरीर में रोग हो जाते हैं रोग हो जाते हैं लेकिन उनको कुछ छूता नहीं गीता के अंदर एक वाक्य आता है बोलते हैं भाई देखो बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी बीमारी भी आएगी लेकिन इन सब चीजों का तरीका निकलने का जो महाराज जी बुढ़ा जाएंगे चल नहीं पाएंगे देख नहीं पाएंगे क्या तरीका है तरीका यही है महाराज जी पहले उठा लेना हम जब भी किसी वृद्धों के पास जाते हैं ना सब लोग यही बोलते हैं गुरु जी स्वामी जी ऐसी प्रार्थना करो कि अब तो भगवान उठा ले अब क्या फायदा इस शरीर से लटकते रहने से कुछ काम भी नहीं कर सकते और दूसरों का भी कोई समय नहीं मिलता है करने का हमारी सेवा और अगर कुछ करते भी रहे तो हमको लगता है किस काम करेगा बुढ़ापा भी आता है बीमारी भी आती है और ये भी याद रखना एक दिन यमराज जी भी आते होंगे हाँ। ये जीवन का परम सत्य है इससे किसी का छुटकारा नहीं है लेकिन गीता में भगवान एक बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं कि तुम इन सबसे छूट सकते हो जरा मरण मोक्षाय वाक्य का प्रयोग करते हैं जरा बोलते हैं बुढ़ापा और ये क्यों जरा मरण हो सब चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है उसका एक ज्ञान होता है वो ज्ञान प्राप्त करो तो सब चीजों से तुम्हारा छुटकारा हो बुढ़ापा तो सब भी आएगा ये संत लोग को जिनको कैंसर वैंसर गया दुनिया भर के रोग हैं ऐसे तो भी मस्त रहते हैं जैसे कुछ हुई नहीं रहा उनको महाराज जी कौन सा ज्ञान आपको चिंता नहीं हो रही है? हाँ? बोलते हैं बस यही ज्ञान की महिमा कुछ समझने की बातें होती है ज्ञान के परम्पार महिमा है और हनुमान जी को सदैव इस दृष्टि से देखो हे हनुमान जी जय हो आपका तो ज्ञान परम्पार है आप ज्ञान के सागर हो प्रभु इस दृष्टि से गोस्वामी जी चाहते हैं कि हम और आप हनुमान जी को इस दृष्टि से देखते होकर बताए ज्ञान और गुण ज्ञान होता है हमारे अंदर प्रकाश अनेकों चीजों का रहस्य हमारे अंदर स्पष्ट हो जाना इसको बोलते हैं ज्ञान और हमारे अंदर ज्ञान जो बाहर व्यवहार करते समय गुण पहचाने जाते हैं किसी के भी गुण जो है उसकी बाहर के आचरणों में जाने जाते आपके अंदर कैसा ज्ञान है थोड़ा आचरण करो हम बता देते हैं गुण पता लग जाएगा गुणों से ही आदमी के ज्ञान का परिचय मिलता है गुण व्यवहार में ज्ञान की अभिव्यक्ति को बोलते हैं ज्ञान हमारे अंदर रहस्य के उद्घाटन को बोलते हैं रहस्य स्पष्ट हो गया प्रकाश हो गया ये पहली जान गए वो पहली जान गए हम लोग इस विषय में गहराई से अगली बार जाएंगे कि क्या ज्ञान की विशिष्टता है हनुमान जी अगर ज्ञान के सागर हैं तो क्या ज्ञान है हमारा जीवन के अंदर थोड़ा तो बताओ अब हम बोलते तो रहेंगे ज्ञान गुण सागर ज्ञान गुण सागर लेकिन क्या महाराज जी बी ए है एम ए करा एम एस सी कराए एम कॉम कराए क्या हनुमान जी कह रहा है भाई कौन सा ज्ञान उनका बड़ा है बोलते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जानने की हनुमान जी का ज्ञान क्या होता है गुण क्या क्या होते हैं लेकिन चलो डिटेल में तो हम लोग अगली बार देखेंगे इस बार तो एक चीज साहब एक महीने भर की उपासना करो हनुमान जी को देखो और केवल इस दृष्टि से कि ये तो ज्ञान की निधि है और ज्ञान दूसरी चीज उनसे सोचना भी नहीं मांगना भी नहीं ज्ञान गुण सागर ये वाक्य अपने दिल में रखा लो आप ज्ञान के गुण है दूसरी दृष्टि से हनुमान जी को देखना बंद नहीं महाराज जी भगत भी है बहुत राम जी की भक्ति है उनसे देखो ये ज्ञान की महिमा है कि भक्ति हो जाती है आनंद की प्राप्ति शांति की प्राप्ति प्रसन्नता निश्चिंतता मुक्ति विवेक धर्म सब चीजें सब फल है इसका उसका कारण है उसका सार उनका ज्ञान है तो क्या ज्ञान है अब आप लोग अपना तरफ से थोड़ी देर इसको अगले महीने तक मनन करना फिर आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि हनुमान जी के ज्ञान की महिमा क्या है और उनके गुण कौन कौन बहुत महत्वपूर्ण अगले महीने का प्रवचन गुरु पूनम के बाद का प्रवचन अब गुरु पूनम के बाद क्या संयोग है देखो गुरु लोग ज्ञान ही देते हैं और हम लोग अगली बार गुरु पूनम के बाद हनुमान जी के ज्ञान का स्मरण करेंगे उनके ज्ञान का स्वरूप क्या है क्या क्या ज्ञान है उनमें अब पूरा ज्ञान तो सागर बोल दिया तो हम नहीं वर्णन कर सकते लेकिन हाँ जो हमको संतों ने हमारे गुरु लोगों ने बताया है सार का वेदों का जो ज्ञान है उसका आपको तो थोड़ा सा सैंपल हम बताएंगे वो फिर हम लोगों का अगले महीने का प्रवचन का विषय रहेगा इस बार यहाँ पे ही हम समाप्त करते हैं श्री राम जय राम जय